अष्टादश मंत्र इदानीम अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसारति प्रकरण यमराज ने तीन वर देने के लिए कहने से प्रथम वर तो पिता प्रसन्न हो और द्वितीय वर से नचिकेता ने मांगा अग्नि विज्ञान तो अग्नि विज्ञान चयन फलम अग्नि विज्ञान उपासना है अचयन है कर्म कर्म उपासना का फल उपसंहृति उपसंहार करते प्रकरणम च स्वर्ग के लिए अग्नि प्रकरण है कर्म उपासना उप, कर्म समुचित उपासना का फल केवल कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक उपासना से देवलोक है कर्म समुचित उपासना करने पर हिरण्यगर्भ तक हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक तक प्राप्ति फल है मोक्ष नहीं है ज्ञान के बिना तो ये कर्म समुचित उपासना प्रकरण का भी उपसंहार त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशात् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके त्रिनाचिकेत ये नाचिकेत अग्नि तीन बार जो उसने अनुष्ठान किया अथवा जिस प्रकार कहा इष्ट का यावती यथा इसी प्रकार जान करके तय में तद विदित्वा य एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम जो इसको जान करके उपासना करता है और चिनुते कर्म भी करता है उपासना कर्म समुचय समृत्युपासात पुरतः प्रणोद्य मृत्यु के पास बंधन मृत्यु के पास अधर्म अज्ञान राग द्वेष आदि है पास बंधन इसको पुरत सर्व समाप्ति के पहले ही नष्ट करके समाप्त करके शोकाति गो शोक रहित तो हो जाता है मानुष्य को दुख रहित होता है स्वर्ग लोके मोदते स्वर्ग में प्रसन्न होकर के रहता है भाष्य में त्रिनाचिकेत त्रिनाचिकेत पहले कहा था तीन बार नचिकेत अग्नि जिसने किया है त्रय त्रयम एतद् विदित्वा त्रयम का था यथोक्तम जो पहले कहा गया था या इष्ट का या अवतीर् यथावा इष्ट का कौन कौन है कितने संख्या है किस प्रकार चयन करना है पहले कहा गया था एतद विदित्वा विदित्वा का तो जान करके अवगम्य समझ करके यसेवम आत्मरूपण अग्निम विद्वान चिन्हते पहले आया था अहम अग्नि ऐसे ध्यान है उपासना है आत्मरूपण अग्निम विद्वान अग्नि का उपासना करने वाले चिन्हते नचिकेतम चयन करता है कर्म अनुसार करता है तो विद्वान उपासना करता है उपासना और कर्म विद्वान उपासना करता है और अनुष्ठान करता है चयन करता है उपासना कर्म समुचय का फल नाचिकेतम अग्नि क्रतुम अग्नि चयन कर्म करता है समृत्युपासान अपोद्य मृत्युपास मृत्यु का बंधन मृत्युपासान का अर्थ है अधर्म अज्ञान राग द्वेष आदि लक्षणान ये मृत्यु का पास है जैसे कोई बंधन रस्सी आदि लेकर के बांध देता है तो ये मृत्यु भी बांधने का ही साधन अधर्म अज्ञान राग द्वेष आदि रूप है उसको पहले ही समाप्त कर देता है ये का ज्ञान कर्म समुचय अनुसार से पुरतः प्रणोद्य पुरतः तो अग्रतः पहले पूर्वमेव किसके पूर्व शरीर पाता अर्थ शरीर मृत्यु के पहले ही काम कर्म अविद्या अज्ञान आदि सबको समाप्त करके प्रणोद्यकात अपहाय समाप्त करके शोकातिगो शोक से रहित मानसेर दुखेर वर्जित इत्येतत् मानस दुख से रहित होकर के मोदते स्वर्गलोके स्वर्गलोक में प्रसन्न होकर के रहता है मोदते स्वर्गलोके वैराज विराट स्वरूप प्रतिपत्य विराज हितम वैराजम विराट के पद है विराट स्वरूप विराट रूप स्वरूप की प्राप्ति करके विराट रूप हो जाता है किंग उपासना करता है अहंग्र उपासना अहम अस्मि स यथा यथा उपासते तदेव भवति जैसे उपासना करता है ऐसे फल प्राप्त करता है अहम अस्मि चिंतन करता है तो तद्रूप हो जाता है एषत्य अग्निर्नचिकेत स्वर्ग्यो वृणिथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निं तवेव प्रवक्षन्ति जनासस् तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीस्व एषत्य अग्निर्नचिकेत स्वर्ग्यो हे नचिकेत एषत्य अग्नि ये तुम्हारे उपदेश किया अग्नि स्वर्ग स्वर्ग के लिए तो स्वर्ग साधन यम अवृणिथा द्वितीयेन वरेण जिसका वर्ण तुमने किया द्वितीय वर्ष से यम द्वितीय वर्ण अवृणित है जिसको तुमने मांगा था ये मैं दे बता दिया एतम अग्निम तवेव प्रवक्षन्ति जनासह इस अग्नि को तवेव तुम्हारे नाम से कहेंगे जनासह जनाह बनता है लोक में आज जैसे रसुक असुक आगम हो गया जनास जन के आगे असुक है असरेगा जनास अगर जस जनासह प्रथम बहुवचन कार्य रूप असु का आगम हो गया छांदस प्रयोग जन लोक इसको कहेंगे तुम्हारे नाम से कहेंगे जना से कहा था जना तृतीयम वरम नचिकेत बुनिस्व और तृतीय वर के वर आगे उसको मांग लो एसते ते ते तुभ्यम अग्नि एसते ते अग्नि वर मागता था नचिकेत स्वर्गीय स्वर्ग के लिए हित तो स्वर्ग साधन यम अग्निम वरम अवृणिता जिसको तुमने मांगा था प्रार्थितवानसी प्रार्थना की थी द्वितीय न तीन वरम में से तृतीय वर से अग्नि विज्ञान की प्रार्थना की थी यही तुमको बता दिया सो वर दत्त ये वर में दे दिया इति उक्तो उपसंहार इसका उपसंहार करने के लिए दे दिया द्वितीय वर पूरा हो गया और किंच एतम अग्नि तवेव नामना प्रवक्षन्ति जनासु जना इति तत् तुम्हारे नाम से कहेंगे पहले बता दिया था ये तुम्हारे नाम पर प्रसिद्ध हो जाएगी अग्नि लोग कहेंगे नाचिकेत अग्नि कहेंगे एतद एष वरो मया चतुर्थ तुष्टेन तृतीय से अतिरिक्त प्रसन्न होकर मैंने वर दिया था तुम्हारे नाम से कहेंगे तो ये तो अलग है चतुर्थ तीन वर्ष अतिरिक्त वर मैंने दिया तुम्हारे नाम पर यह अग्नि प्रसिद्ध हो जाएगी अग्नि विद्या और तृतीय वर वाक्य तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीशो तृतीय वर मागो तृतीय वर मागो कह कर क्यों कहते हैं ये कहने का तस्मिन यदत्त ऋणवान अम तो अभिप्राय देने के लिए प्रतिज्ञा करके जब तक तो नहीं दिया देने के लिए कह दिया तो वचन देते आप जैसे दे दिया नहीं देने पर ऋणवान हो जाता है ऋणी हो जाता है और जो कोई दे करके अपहरण करना ये तो दोष है देने के बाद देने के लिए कह दिया जब नहीं देते ऋणवान तस्मिन अदते तृतीय बार जब नहीं देते तब तक ऋणवान अहम मैं ऋणी हो जाऊंगा ऋणी इसलिए जल्दी उसको मांग लो ले लो ऋणवान अहम इति अभिप्राय अभिप्राय कन्यादान करते लोग कन्यादान कर दिया कन्यादान श्रेष्ठ आया था इसमें किंतु दान करने के बाद अपना अधिकार नहीं रहना चाहिए अपना अधिकार चलाते हैं कुछ होते फिर डराएंगे हम नहीं लेंगे लड़की को दूसरी शादी करा देंगे बहुत पाप होता है एक बार कन्यादान करके फिर कन्या को के ऊपर अधिकार रखना अथवा तो उसको लेकर दूसरी शादी कराना ये शास्त्र विरुद्ध से पाप होता है कन्या दान दान कर दिया मतलब उसमें कोई अपना अधिकार नहीं है तो उसके पति के अधीन रहना चाहिए वो शिक्षा देनी चाहिए पुत्री को ऐसी शिक्षा नहीं दे करके उल्टे उनको डराना ऐसे ऐसे लोग में आजकल करते हैं फिर ले करके दूसरी शादी कराना ये सब बहुत पाप होता है दान करने के लिए दान करने के बाद अपहरण दान अपहरण बहुत पाप ये तो यमराज केवल देने के लिए कहा तृतीय वर तो जब तक नहीं देता तब तक ऋणी कहते तब तक मांग लो तस्मिन दत्ते ऋणवान हम इस अभिप्राय से कहते तृतीय वर मांगो टीका में पिता पुत्र स्नेहादि स्वर्गलोकावसानम यद वरद्वय सूचितम संसार रूपम तदेव कर्मकांड प्रतिपाद्यम आत्मन्यारोपितम तन्निवर्तकम च आत्मज्ञानम इति अध्यारोप अपवाद भावेन पूर्वत्र गंतः संबंधमाह पिता पुत्र स्नेह आदि पिता पुत्र का स्नेह पुत्र पहले पिता के सामने से मांगा और केवल पिता पुत्र नहीं ऐसे परिवार में जैसे परस्पर सब स्नेह होता है पिता पुत्र स्नेह आदि स्नेह परस्पर भाई माता पिता सब के साथ यहाँ से लेकर के परिवार इसे लोग सुख और स्वर्ग लोक अवसान वहाँ से लेकर स्वर्गलोक तक अंत में स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गलोक भी यहाँ से भूर्भुव स्व स्व से लेकर के वहाँ ब्रह्मलोक तक यद वर द्वे सूचितम दो वर से सूचित हुआ ये संसार रूप है यही संसार है वर द्वे से सूचित संसार संसार हुआ तदेव कर्मकांड प्रतिपाद्यम कर्मकांड के द्वारा प्रतिपाद्य यही त्रैगुण्य विषय अवेदा त्रैगुण्य है विषय यही कामना से प्राप्त होने वाले भगवान कहते हैं निस्त्रय गुण्य भवार्जुन निष्काम हो जाओ कर्म और उपासना कर्मकांड और उपासना से प्राप्य ये संसार रूप फल है कर्मकांड के द्वारा प्रतिपाद्य जितने ये सब है संसार आत्मने आरोपितम शुद्ध चिन्मात्र तत्व है उसमें कोई कुछ नहीं है जितने साध्य साधन रूप है सब आरोपित है यागादि साधन सत्कर्म पुण्य कर्म करेंगे तो इस लोक सुख से लेकर के ब्रह्म लोक सुख तक सब कुछ सुख प्राप्त जो होता है ये पारमार्थिक नहीं है आरोपित आत्मा में शुद्ध चिन्मात्र तत्व के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने से संसार की आत्यंतिक निवृत्ति होती है संसार की निवृत्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक और आत्मा का ज्ञान के लिए जो उपदेश किया जाता है अवांग मन से गोचर है वाणी मन का विषय नहीं किस प्रकार उपदेश किया जाएगा इसलिए उपदेश करने के लिए के अध्यारोप अपवाद न्याय आरोप करेंगे फिर उसका निषेध करेंगे अध्यारोप अपवाद अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते निष्प्रपंच ब्रह्म उसका ही कथन वेद में कहा जाता है किया जाता है अध्यारोप अभ्याम अध्यारोप है ये सब संसार वर्णन ये कर्म उपासना से प्राप्त होता है ये संसार अथवा आकाश आदि की सृष्टि कही गई ये सब अध्यारोप आरोप है उसके बाद उनका निषेध करने पर अपवाद हो जाता है तो शुद्ध चिन्ह मात्र का ज्ञान होता है इसलिए शास्त्र में श्रुति में भी आकाश आदि की सृष्टि कही गई वो अध्यारोप है आरोपित वास्तव सृष्टि में तात्पर्य नहीं है आरोपित जगत का कथन क्योंकि आगे उसका अपवाद करके नेति नेति कह करके सबका निश्चित कर देंगे शुद्ध चिन्ह मात्र का ज्ञान होगा उसका ज्ञान के लिए तद भिन्न का निषेध आत्मज्ञान के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं गीता भाष्य में आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए अनात्मा का निराकरण करते जाओ अनात्मा को निराकरण कर दिया तो आत्मज्ञान है स्वरूप ज्ञान स्वयं प्रकाश है अनात्मा में जो आत्मत्व बुद्धि सत्यत्व बुद्धि उसको त्याग करना ये अपवाद है तो यहाँ आरोपित है जगत आरोपितम निवर्तकम च आत्मज्ञान ये संसार कर्मकांड के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मा में आरोपित कर्म उपासना से प्राप्त होता है उसका निवर्तक है आत्मज्ञानम इत अध्यारोप अपवाद अपवाद भावेन अध्यारोप अपवाद रूपेण पूर्वोत्तर ग्रंथ यो संबंध पूर्व ग्रंथ उत्तर ग्रंथ का ही संबंध है अभी यहाँ तो जो कहा गया अध्यारोप रूप है आगे ज्ञान कहेंगे सब का निराकरण करेंगे तो अपवाद होगा अध्यारोप अपवाद भावेन तो दोनों में संबंध है अध्यारोप अपवाद संबंध है ये दोनों संबंध है दोनों ग्रंथ में कर्म कांड ज्ञान कांड में ही संबंध है आह एतावद्धि अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्रब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वरद्वय सुचितम वस्तु नात्म तत्व विषय यथात्म विज्ञानम एतावद्धि अवगंतव्यम इतने ही प्राप्त करना जानना अतिक्रांतेन ग्रंथेन अतिक्रांत इसके पहले कर्मकांड उपासना सब वेद में पूर्व कांड कर्मकांड के द्वारा कर्मकांड का क्या स्वरूप विधि प्रतिषेधार्थ है ना विधि प्रतिषेधार्थक कुछ विधान कुछ निषेध है कर्तव्य कर्तव्य यज यष्टव्य यजेत इत्यादि विधि निषेध न हंतव्य माहिंस्याद निषेध बर्हिषि रजतम न देयम कुछ प्रतिषेध कुछ विधि तद, तद उसमें ही तदर्थक है वेद कर्मकांड में मंत्र ब्राह्मणेन मंत्र ब्राह्मण और वेदत्वम मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद है कुछ मंत्र भाग है कुछ ब्राह्मण भाग है और मंत्र ब्राह्मण और वेदत्वम मिल करके वेद है ब्राह्मण में कहीं कहीं थोड़ी व्याख्या रूप से है विस्तार मंत्र संक्षेप है तो मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के द्वारा इतने ही प्राप्त जानना अवगंतव्यम क्या एतावत इतने ही कितने यद वरद्वय सूचितम वस्तु वरद्वय से सूचित वस्तु पितृ समन से प्रथम रहे है पिता पुत्र भाई बंधु स्नेह इस लोक में सुख ये सब है अद्वितीय है स्वर्ग लोक हिरण्यगर्भ तक फल प्राप्ति तक जितने सब सूचित वस्तु है ये संसार के अंतर्गत इतने ही वेद के द्वारा प्रतिपाद्य कर्म उपासना से प्राप्य याग विभिन्न प्रकार कर्तव्य असमेध वाजपेय आदि सर्वमेध से याग जितने कर्म है सब कर्म और जितने उपासना सबका फल इसी के अंतर्गत है न आत्म तत्व विषय अर्थात्म विज्ञानम ये कर्म कांड के द्वारा इतने जो कहा गया इतने तो प्राप्त है संसार विषय का एतावद्धि अतिक्रांत नहीं सब जो दिया इतने ही एव एव कारार्थक है उसका अर्थ इतने ही है अर्थात क्या और नहीं है न आत्म तत्व विषय याथात्म विज्ञान आत्म तत्व विषयम याथात्म विज्ञान न आत्म तत्व को विषय करने वाले यथार्थ ज्ञान यह कर्मकांड के द्वारा नहीं ये रहा अतो विधि प्रतिषेधार्थ विषय से आत्मनि विधि प्रतिषेधार्थस्य विधि प्रतिष्ठित का अति संसार आत्मा में आरोपित क्रिया कारक फल अध्यार फल आदि अध्यारोपण लक्षण से यही संसार है क्रिया याग आदि क्रिया कर्म कारक है मैं करता हूँ देवता संप्रदान है वन्य अधिकरण है आहवनी ज्योति घृता आदि करण है ये सब जितने और फल है स्वर्ग आदि क्रिया कारक फल का फल आदि क्रियाकार का फल अनुष्ठान जन्म मरण आदि जितने है सब का आरोपण है आदि अध्यारोपण लक्षण से ये अध्यारोप है जिसका लक्षण इसे अध्यारोपण होता उसका कारण है अज्ञान अज्ञान कारण का ये लक्षण हो गया अध्यारोपणम लक्षणम यस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य अज्ञान से मूल कारण अज्ञान है तब ये भ्रम होता है क्रियाकारक फल आदि आत्मा निष्क्रिय है शुद्ध है असंग है तो उसमें मैं कर्ता होता हूँ क्रिया कारक फल आदि आरोप संसार ब्रह्मलोक स्वर्ग प्राप्ति नरक प्राप्ति ये जितने जगत है पिता माता भाई बंधु आदि यह लोग परलोक ये सब आरोप आरोप तभी होगा यदि अज्ञान हो रज्जु के अज्ञान होने से ही सर्प दिखता है रज्जु का ज्ञान हो जाता सर्प नहीं रहता है सर्वत्र एक अज्ञान और एक विपरीत ज्ञान विपरीत ग्रहण भ्रांति ब्रह्म का कारण है अज्ञान सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं उनसे ब्रह्म होता है ये स्वाभाविक से अज्ञान से अज्ञान है उसका कारण तो ये आरोप है लक्षण आरोपण लक्षण से संसार बीज से अज्ञान से स्वाभाविक स्वभाव अनादि अनादिकाल से प्रभुत्व अज्ञान ये संसार का बीज है अज्ञान के अज्ञान मूल कारण अज्ञान अज्ञान से ही भ्रम होता है अज्ञान से ही विक्षेप होता है आवरण से विक्षेप होता है अन्यथा ग्रहण होता है निवृत्ति अर्थम मूल कारण अज्ञान की निवृत्ति हो तो संसार की निवृत्ति होगी अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो तो संसार की निवृत्ति नहीं होती है कुछ दिन स्वर्ग में जाए हजार हजार वर्ष रहे कोई बात नहीं फिर आगे आना पड़ेगा उसकी निवृत्ति होने से ही आत्यंतिक दुख निवृत्ति तद विपरीत ब्रह्मात्मकत्वय विज्ञान ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानम उससे विपरीत है ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानम ब्रह्म और आत्मा का एकत्व जो ब्रह्म है वही प्रत्येक अभिन्न है अब प्रत्येक ब्रह्म है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उसका एकत्व ज्ञान है जिसमें असंग शुद्ध दृग रूप एक अद्वितीय आत्म तत्व है जिसमें क्रिया कारक फल अध्यारोपण नहीं है क्रियाकार का फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम ही क्रियाकार का फल अध्यारोपण लक्षण है ही नहीं शुद्ध चिन्ह मात्र ये ज्ञान होने से उसको ही विषय करने वाले ज्ञान आत्यंतिक निश्रेय से प्रयोजनम निश्रेय से निश्चितम श्रेय निश्रेयस अचतुर विचतुर से अप्रत्य होता है निश्चितम श्रेय निश्रेयस और आत्यंतिक आश्रय आगे निवृत्त नहीं होने वाले नित्य है ये आत्यंतिक निश्रेयसम प्रयोजन में से आत्यंतिक श्रेय है जिसका प्रयोजन नित्य निरत से आनंद है प्रयोजन इसका किसका ज्ञान का आत्मिक विज्ञान ब्रह्मात्मिक विज्ञान उसका साधन कहना है वक्तव्यम इति उत्तर ग्रंथ आरभ्यते इसलिए आगे ग्रंथ आरंभ किया जाता है टीका में प्रथम बलि समाप्ति पर्यंत आख्यायिकायाः अवांतर संबंधमा प्रथम बलि समाप्ति पर्यंत अभी कौन सी बलि चल रही प्रथम बलि इस बलि समाप्ति पर्यंत पर्यंत आख्यायिकाया अवांतर संबंध यह आख्यायिक रूप से कथन है यमराज पिता पुत्र संवाद हुआ यमराज के पास नचिकेता पहुंचा अभी गुरु शिष्य रूप से प्रश्न उत्तर है अवांतर अंतर्गत संबंध कहते हैं कर्मकांड पूर्व ग्रंथ के साथ उत्तर ग्रंथ का संबंध कह दिया अध्यारोप अपवाद भाव और आख्याय का ये बलि समाप्ति तक उसका संबंध कहते तम एतमर्थम द्वितीयम वरम प्राप्याप्यकृतार्थत्वम प्राप्य प्राप्यापि ये द्वितीय वर को प्राप्त करके भी एतमर्थम ये सारा सुख जितने सुख है ब्रह्मलोक तक संसार के अंतर्गत इसको प्राप्त होने पर प्राप्य भी प्राप्त करने के बाद भी अकृतार्थत्वम कृतार्थ तो कोई नहीं होता है जितने भी प्राप्त हो जाए कृतार्थ कृतः ये ना जो कुछ करना था कर लिया सब प्रयोजन सिद्ध कर लिया तो सब कुछ मिल जाए ज्ञान नहीं हो मुक्ति नहीं हुई तो कृतार्थ नहीं होता है अकृतार्थत्वम द्वितीय वर्गोचरम आत्मज्ञान मंत्रेण तृतीय तृतीय वर्ग गोचर आत्मज्ञान है आत्मज्ञान के बिना ये सब कुछ मिल जाए ब्रह्मलोक तक तो भी कृतार्थ नहीं होता है वह आत्मज्ञान ही चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त होगा तभी ब्रह्मलोक तक सुख में वैराग्य हो तो जब तक तो वैराग्य नहीं होता तब तक जैसे अनादि काल से भटक रहा है इसी प्रकार चलता ही रहेगा घटी यंत्र जैसे घूमता ही रहता है कितने चक्कर लगा दिया करोड़ों करोड़ों कितने मतलब एक दो चार नहीं कितने कितने करोड़ सब योनि में घूम गया भटक गया स्वर्ग कितने करोड़ करोड़ बार गया नरक भी देखा है पेड़ पौधे भी बनाए हुए कीड़े मकड़े पशु पक्षी सब सब प्रकार भोग भी कर लिया फिर वही चाहता है चाहेगा तो भटके भटका रहेगा कभी भी मोक्ष मिलेगा तो ये मिथ्या वस्तु से वैराग्य हो तभी क्योंकि जितने अध्यारोप आरोपित संसार आरोपित संसार में भटक रहा है सत्य तो बुद्धि करके तो जब ये सब में कृतार्थ नहीं होता है सब प्राप्त होने के बाद जैसे अभी अनादिकाल से बहुत सब प्रकार भोग करने पर भी अभी अपने को कम मानता है मैं कुछ कम है सब के पास बहुत है मुझे भी मिल जाए और जितने मिल जाए तो और मिल जाए और मिल जाए कभी समाप्त कृतार्थ नहीं होता है तृतीय वर है आत्मज्ञान आत्मज्ञान के बिना कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है ये समझ करके मुख्य आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए करोड़ों करोड़ों बार जन्म होकर के बर्बाद हो गया कुछ नहीं कर पाया तभी तो जन्म हुआ इसी को यदि ऐसे ही बिता दे फिर ऐसे ही भटकना पड़ेगा इसलिए आत्मज्ञान ही श्रेय ही प्राप्त करना मनुष्य जन्म मिला इसके लिए प्रयत्न करना उसके बिना कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है इति आख्यायिकया प्रपंचति इसको ही विस्तार से कहते हैं श्रुति कहती है आख्यायिका के द्वारा ऐसे कथा रूप से श्रुति कहती है यत पुरस्मात् कर्म गुजरात साध्य साधन लक्षणाद अनित्यादि विरक्त से आत्मज्ञान अधिकारिति तनिंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते पुरसा पुरस्मात् पूर्व ग्रंथ में जो कहा गया कर्म विधि प्रतिषेधात्मक कर्म गोचरात कर्म का फल सारे संसार जो कि साध्य साधन रक्षण है साध्य स्वर्ग आदि सुख साधन याग आदि कर्म पुण्य पाप कर्म ये सब साध्य साधनात्मक संसार है कर्म का विषय वो अनित्य है सब क्योंकि साध्य होगा उत्पन्न होगा कर्म से अनित्य होगा उत्पत्ति वाला कोई नित्य नहीं होता है अनित्य संसार से विरक्त से विचार विवेक नहीं होने पर अनित्य शरीर भी कितने दिन रहेगा निश्चय नहीं है मान जानता है मालूम है तो भी चाहता है इदम में साथ इदम में साथ इदम में साथ और जाते समय कुछ ना लेकर जाना है और जो चाहे इदम में साथ इदम में साथ सोचता है सोचने से मिल जाता है वो भी नहीं है मिल भी जाए तो भी छोड़ कर जाना पड़ेगा तो भी चाहता है ये मिल जाए वो मिल जाए यही अंतकरण शुद्ध होने पर अनेक जन्म के पुण्य पुंज जो फल देता है तो ये विचार होता है ये प्राप्त होने से क्या होगा कितने देर शरीर रहेगा उसके बाद कहाँ जाना है इसके पहले कितने बार जन्म हो गया ये सब विचार शुरू होता है पुण्य के कारण बहु जन्म में बहुत पुण्य किया कुछ सत्संग आदि करने पर वो वो संस्कार उद्भूत होता है विचार शक्ति आती है विचार करता है नहीं तो विचार शब्द ऊपर कहते कि जो अनित्य सब कहेंगे कोई किसका नहीं सब बोलते हैं मोह छूटता नहीं छोटे बच्चे भी कहता है अरे कोई किसका नहीं मतलब कोई किसका नहीं वो कहते ये भी कहते कोई किसका नहीं हम भी बचपन में से कहते संसार कोई किसका नहीं ए माया संसार माया क्या है पता नहीं ये माया संसार कोई किसका नहीं है बस सब कहते हो सिखा देते सबको बोलते बोलते भी इतना अभ्यास हो गया उसका अर्थ की चिंता कुछ नहीं ऐसा बोल देते थे इसी प्रकार किंतु विचार होता है तो वैराग्य होता है विचार होने पर ही संसार में दोष दृष्टि होती है जितने अधिक फल हो वो समाप्त हो जाएगा अनित्य है जितने सुंदर फल यदि उसमें विषय है अच्छा दिखता है तो कौन लेता है विषय है तो मालूम है तो अच्छा दिखने पर चुएंगे नहीं खाने के बाद अलग है विषय के फल है बहुत सुंदर दिखे दो मिलेगा तो एक खाओगे या दोनों खाओगे कितने खाओगे ये क्या आधा ये दो कुछ नहीं विष तो छूने की चाहे उधर भाग जाएंगे कहीं यहां छूने से पास में हमसे कुछ हो जाएगा ये संसार में से यदि वैराग्य हो जाए अभी आत्मज्ञान होगा संसार में आश्रित है छिपा कर रखे ये चाहिए वो चाहिए करके ऊपर के हमको कुछ नहीं चाहिए मन में सब रखे है वासना तो कितने दिन में आत्मज्ञान होगा कभी नहीं होगा मन से चुरा पूरा छोड़ना है इसलिए स्पष्ट इस उपनिषद में ये अनित्याद विरक्त से आत्मज्ञान अधिकार ये साध्य साधन रूप अनित्य है इसलिए यह लोक सुख कोई कहते हैं हमको ब्रह्म लोक सुख नहीं चाहिए क्योंकि ब्रह्म लोक में विश्वास नहीं होता है और यह लोक सुख तो चाहिए यहाँ कोई कह दिया तो प्रसन्न हो गया थोड़ी कुछ कह दिया तो काला पड़ जाता है शरीर मुख काला हो जाता है लाल हो जाता है क्रोध से क्रोध से लाल दुख से काला तुरंत हो जाता है जितने रोग नहीं सकते हैं यहाँ ऐसे कह दिया कुछ कह दिया तो थोड़े शब्द से कुछ बिगड़ा नहीं तभी ऐसे हो जाता है तो ब्रह्म लोग सुख कैसे नहीं चाहेगा तो ये यहाँ स्वल्प सुख के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं जो अनित्य है शरीर कितने देर रहेगा वो भी पता नहीं है अनित्य सुख के लिए निषिद्ध कर्म भी करने लग जाते हैं ये यही से विचार होने पर वैराग्य होता है ऐसे बीची विवेक करे तो वैराग्य वैराग्य नहीं होता है का अर्थ विवेक नहीं होता है शब्द से तो कह देते अनित्य अनित्य मिथ्या कह देते हैं कि मिथ्या क्या है अनित्य क्या है ये समझ नहीं आता है अथवा विश्वास नहीं होता है दृढ़ निश्चय यदि हो जाए जिस प्रकार ये फल विषय मालूम हो गया ग्रहण नहीं करते छूते नहीं इसी प्रकार संसार दुख का कारण है मिथ्या है ए आरोपित वास्तव नहीं है ये यदि निश्चय हो जाएगा तो ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी विषय में दोष दृष्टि करने पर विवेक करने पर इसलिए विवेक साधन चतुष्टय में पहले विवेक उसके बाद वैराग्य विवेक पूर्वक वैराग्य होता है ये संसार से विरक्त हुआ तब उसका अधिकार आत्मज्ञान में आत्मज्ञान अधिकार इति तनिंदार्थम इसे संसार जितने साध्य साधन कर्म उपासन से प्राप्य जितने लोक सुख तक इस लोक से लेकर के और सबकी निंदा करने के लिए निंदा इसलिए उसे वैराग्य होने पर ही ज्ञान होगा उसको प्राप्त करने पर भी कोई कृतार्थ नहीं होता है अनित्य है मिथ्या है झूठा तो उसको प्राप्त करके क्या खुश होने का उसके पीछे क्यों भागना इसकी निंदा करने के लिए पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते पुत्र आदि उपन्यास कथन करके ये यमराज के द्वारा प्रलोभन कराते पहले इसको ले लो उसको ले लो जब ये सांसारिक वस्तु में लोभ नहीं है आसक्ति नहीं है ग्रहण करने की इच्छा नहीं वैराग्य हो जाए तभी ज्ञान प्राप्त होगा श्रवण करने का तो कोई कहते इतने दिन श्रवण का हमको क्या मिला नहीं मिले का कारण है श्रवण विधिवत नहीं किया अथवा वासना बहुत रख करके क्या होगा संसार से वैराग्य हो विधि पूर्वक श्रवण करे अवश्य फल प्राप्त होगा प्रलोभन पहले करते देखते ये अधिकारी है या नहीं है नचिकेता उवाच नचिकेता के कहता है येयम प्रेते विचिकित्सा मनसे अस्ति त्येके नायम अस्ति इति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्त्रितियः या यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायम अस्ति च एके या यम विचिकित्सा यह जो संदेह है या यम संशय है संशय विचिकित्सा संशय प्रेते प्रेते मृते कोई मर जाने पर उसके बाद संशय संशय क्या है आगे आत्मा है अथवा नहीं है इसमें संशय संशय होने का कारण विरुद्ध धर्म विरुद्ध उपलब्ध होता है अस्तित्व के कोई कहते हैं मरने के बाद आत्मा है जो परलोक में जाएगा आत्मा कोई है देह समाप्त हो गया आत्मा कोई है परलोक जाता है अस्तित्व के और नायम अस्तित्व चाहिए कहते हैं मरने के बाद और क्या रहा उसको लेकर जला देते फेंक देते समाप्त हो गया जलाएंगे तो राख हो गया भस्मीभूत से देह से भस्म हो गया तो फिर कहाँ और जन्म लेगा कौन जाएगा कहाँ है कोई नहीं कुछ नहीं है नायम स्थिति चाहिए कि ये इसे हाँ, मतभेद है इसे संशय होता है प्रसिद्ध है एतद् विद्याम अनुशिष्ट त्वयाम त्वया अनुशिष्ट अहम एतद् विद्याम इसका आप उपदेश कीजिए इसको मैं जान लो जानो वराणा में वर तृतीय वराणा मध्य ऐसा तृतीय वर तीनों वर में ये तृतीय वर यह है मरने के बाद आत्मा है नहीं कहते आत्म विषय ज्ञान भाष्य में नचिकेता उवाच कहा तृतीयम वरम नचिकेत ब्रुनिस्व उक्त सन यवराज ने कहा तृतीय वर है नचिकेता माग लो तृतीय वर माग कहते नचिकेता ने कहा ये एम विचिकित्सा विचिकित्सा संशय इसमें प्रेते प्रेते का था मृते मनुष्य मर मनुष्य मर गया उसमें संशय अस्तित्व एक है अस्थि का तो कौन अस्थि किम अस्थि शरीर इंद्र मन बुद्धि व्यतिरितो देहांतर संबंधी आत्मा इति एके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अलग कोई आत्मा है जो आगे जन्म प्राप्त करेगा दूसरे देह को प्राप्त करेगा देहांतर संबंधी ये शरीर समाप्त होने पर अन्य देह को प्राप्त करेगा ऐसा कोई शरीर इंद्र से विलक्षण आत्मा है कुछ लोग कहते हैं नायम स्थिति चाहिए कि अन्य कोई का ऐसा कोई आत्मा है ही नहीं देहेंद्र मन जो ही जो दिखता है यही तो सब कुछ है और अलग कुछ है क्या है किसने देखा है प्रत्यक्ष जो दिखता है उसको मानना जो नहीं दिखता है इसे व्यर्थ कल्पना क्यों करना ऐसे व्यर्थ कल्पना करेंगे तो खरगोश का सिंह भी कल्पना करो ऐसे ही व्यर्थ कल्पना बंध्या का पुत्र कल्पना करो ये व्यर्थ है प्रत्यक्ष जो नहीं दिखता है ही नहीं मन से ये संशय नायम स्थिति चाहिए अन्य लोग कहते ऐसा कुछ है ही नहीं देह इंद्रिय मन से विलक्षण कोई कहते वैज्ञानिकों ने परीक्षा कर देखला कुछ नहीं मर गया था कुछ नहीं अदे कोई आत्मा जाए कोई मकान में कमरा में रखा काज लगा हुआ मर जाने पर आत्मा निकल जाए तो काज फट जाना चाहिए कि रास्ता खोल कर जाए किस रास्ते जाएगा सब बैठे देखते हैं बड़े-बड़े लोग हम यंत्र लेकर देखते कुछ नहीं दिखता है कुछ नहीं है कोई कहते कोई नहीं नायम मस्ती चाहिए शरीर आदि से अलग कोई नहीं जो सामने दिखता है उसको ले लो वही जलाकर जला दो फेंको कुछ करो नायम एवं विधु अस्ति इस प्रकार जो देहांतर संबंधी शरीर से विलक्षण कोई आत्मा ऐसा ही नहीं ये कहते टीका में देह व्यतिरित आत्मा अस्तित्व वादी विपत्ति पते संशयचेत देह से देह इंद्रिय मन बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा के विषय में वादियों का विप्रति विरुद्ध प्रतिपति कोई कहता है कोई कहता नहीं कहे ऐसे कहते इसके कारण संशय हुआ विरुद्ध कथन करने से संशय यदि होता है तरी प्रत्यक्षादिना स्वस्यव निर्णय ज्ञान संभवत तो निर्णय करो देख लो आत्मा दिखता है नहीं दिखता है कोई मरता हो जाकर बैठ कर देखो आत्मा कहीं निकल कर जाता है नहीं दिखता है प्रत्यक्षादिना प्रत्यक्ष अनुमान आदि निश्चय कर लो स्वस्य व निर्णय ज्ञान सम अपने आप निर्णय हो जाएगा तो निर्णय से निष्प्रयोजनत्वाच उसका निर्णय से भी क्या मिलेगा आत्मा है या नहीं है नहीं हो जाए पता नहीं है उसे कोई प्रयोजन तो सिद्ध होने वाला नहीं निर्णय भी निश्चय देहांतर संबंधी आत्मा है ऐसा निश्चय हो जाए तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है जो लोग वेदांत श्रवण करते हैं आत्मा है या नहीं कर विचार करते छोड़ कर चल जाते अरण्य में फिर मांगने के लिए जाते खाने के लिए यदि कोई प्रयोजन है फिर भोजनालय छोड़कर आए फिर खाने के लिए मांगते क्यों इधर घर छोड़कर भाग जाते हैं वेदांत श्रवण करते हैं फिर भूख लगते है मांगने के लिए जाते हैं भोजन करने के लिए तो क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ वेदांत श्रवण करने के फिर भोजन करना पड़ता है ना नहीं तो क्या सीधा हम जैसे खाए तो वो जाकर खाते लाभ क्या हुआ उसके अपेक्षा यहाँ रहो कहते निष्प्रयोजन तो कोई प्रयोजन ही नहीं है और दुख केवल खाते ही नहीं बीमार भी पड़ते हैं तो सब कुछ जैसे करते तो क्या प्रयोजन कोई प्रयोजन नहीं वो ऐसे कुछ नहीं है तो फिर क्या न तदर्थ प्रश्न कर्तव्य इतिहास में तो इसके लिए क्या प्रश्न करना है आत्मा है नहीं कोई प्रयोजन ही नहीं प्रश्न नहीं करना चाहिए ऐसे शंका आने पर तो नचिकेता का अतश्च भाष्य में अतश्च हां नायमस्ति चय के अतश्च अस्माकं न प्रत्यक्षण अनुमान है अनुमानेन निर्णय विज्ञानम ये निर्णय हमको नहीं होता है भिन्न भिन्न मत देने से अतच अस्माकं न निर्णय विज्ञानम हमको निर्णय ज्ञान नहीं होता है ना प्रत्यक्ष से ना पे अनुमान से प्रत्यक्ष में से आत्मा नहीं है भी कैसे कहेंगे दिखता नहीं तो नहीं कहेंगे ये तो नहीं है नहीं दिखने पर भी तो मालूम होता है गर्मी दिखते है ना नहीं गर्मी के समय में गर्मी लगती कभी जिसको नहीं दिखते उसको गर्मी लगेगी किसको गर्मी दिखती है दिखते है क्या गर्मी लगती है तो नहीं दिखने पर तो जाओ लगता है पता चलेगा और सुख दुख दिखता है ना नहीं तो सुख दुख सब कहते मैं सुखी दुखी कहाँ सुख दुख देखा हो कोई पूछेगा कहाँ सुख देखा हो कहाँ दुख है सुख दुख कहाँ है क्या प्रमाण है प्रमाण बताओ क्या प्रमाण है सुख दुख में हैं सुख दुख है क्या क्या प्रमाण है बताओ अपना अनुभव दिखाओ कहां तुम्हारा अनुभव अपना अनुभव अनुभव क्या ऐसे कहे अनुभव कहे हम भी अनुभव कहे बंदिया का पुत्र है खरगोश का सिंह क्या प्रमाण अनुभव है अनुभव कौन से कोई मान लेगा <laughs> कोई चीज प्रमाण कह सबको देखे सबको सब ग्रहण करेंगे तो मानो देखा दो ये सामने देखा दो पुष्प है सब देखो तो ठीक है और अपना अनुभव अपना अनुभव तो कोई कुछ कह सकता है हैं क्या बोलता हाँ वही तो है मन की तरह भी कोई कहे बंध्या पुत्र का प्रत्यक्ष होता है क्या आंख से देखना तो नहीं तो ही ना के देखना कोई जरूरत नहीं तो बंध्या पुत्र मान लो ना खरगोश का सिंह है प्रत्यक्ष होता है मन से प्रत्यक्ष होता है मन के साथ आत्मा संय हो गया फिर बंध्या दिखने लग जाता है ऐसे कहेंगे तो सब कुछ मानना पड़ेगा तो इसलिए ना प्रत्यक्ष ना कह प्रत्यक्षण नहीं दिखता है इसलिए नहीं ऐसा नहीं कह सकते नहीं दिखने पर भी मानना पड़ता है गर्मी है ठंडी है दिखता है क्या नहीं दिखने पर भी अनुभव होता है और देखा दो कोई कहेंगे देखा हो कहाँ गर्मी है कहाँ ठंडी देखा नहीं सकते है तभी तो अनुभव होता है और कोई खाओ गुड़ खाने से क्या मीठा लगता है क्या प्रमाण है बताओ <laughs> तो दिखता है कोई मीठा दिखता है तो मानते हैं कैसे खा कर खा कर तो क्या हम खाने पर हमको खट्टा लगता है तो मीठा कैसे मानेंगे इसी प्रकार कहते प्रत्यक्ष से क्या निर्णय होगा नहीं दिखने पर भी अनुभव होता है बहुत पदार्थ ये लोग मानते हैं वैज्ञानिक लोग मानते हैं नहीं दिखता है यहाँ सूक्ष्म अणुवीक्षण यंत्र देखे कितने अणु कीड़े कीड़े मकोड़े होते हैं क्या कहते हैं उनको छोटे-छोटे कीड़े होते हैं हैं हां इंग्लिश में कुछ कहेंगे छोटे-छोटे बहुत अणु परिमाण जैसे सब कीड़े मकोड़े कुछ छोटे-छोटे होते हैं आंख से दिखता नहीं धूलिकण भी आएगा धूलिकण भी नहीं है और सूर्य किरण आ गया तो दिखेगा नहीं दिखता किंतु है अरे भूत पिशाच आदि कोई देखा नहीं किंतु तो डरते सब बड़े-बड़े लोग भी कभी किसको दिखता है कोई कुछ नहीं कोई सुनने से कोई सुनाई पड़ता है कोई बोलता है ऐसे बहुत पदार्थ है नहीं दिखने पर नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं इसलिए प्रत्यक्ष से नहीं दिखता है तो नहीं ऐसा नहीं कह सकते नहीं दिखने पर भी बहुत पदार्थ मानते हैं तो नहीं प्रत्यक्ष दिखता तो अनुमान करो अनुमान करने के लिए व्याप्ति निर्णय हो कोई हेतु लिंग हो तो अनुमान होगा अनुमान करके कहानी निश्चय सर्व हो कुछ अनुमान से हो जाता है वायु आंख से नहीं दिखता है किंतु अनुमान से निश्चय हो जाता है इसी प्रकार सब पदार्थ का अनुमान भी नहीं होगा अनुमान करने के लिए भी कोई हेतु है आदि होना चाहिए नहीं इसे कहते हमको ना प्रत्यक्ष ना अनुमान से निर्णय ज्ञान नहीं होता है इसलिए प्रश्न करते तो फिर इसका क्या प्रयोजन है क्यों निर्णय नहीं होता तो प्रश्न करना है प्रत्यक्ष नहीं दिखता अनुमान नहीं होता तो उसके लायक प्रश्न करना है बंध्या पुत्र का कितने पुत्र बताओ जाकर के गुरु के पास पूछेंगे खरगोश का सिंह कितने है कौवा का दांत कितने कौवा के दांत है काक दंत मालूम है कौवा के दांत कितने ऊपर है नीचे दांत मालूम है कितने मालूम है किसको मालूम है जिसका कोई प्रयोजन हो तो उसके लिए प्रश्न करना जानकर भी कोई प्रयोजन नहीं कोई दांत आदि कुछ नहीं कहते हैं ये कहता है निष्प्रयोजन उनसे कहते निश्चय निष्प्रयोजन ये निर्णय विज्ञान एतद विज्ञान अधीन ही परश्रेय एतद निर्णय विज्ञान के अधीन ही पर पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ मोक्ष इसी विज्ञान के अधीन आत्मा के ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा इसलिए प्रश्न करते हैं इतत तो एतद विद्याम इसलिए इसको मैं जानूं विजानियाम अहम इसको जानूं अहम अनुशिष्ट हो ज्ञापित तो आपके द्वारा अनुशासन बोधन कराने पर मैं इसको मैं जानूं वरणामे सवर तृतीय अवशिष्ट जो बचा ये वर है टीका में प्रत्यक्षण निर्णित पुरुष पुरुषो नवा प्रत्यक्ष यदि स्थान उठोंठ दिखता है ये पुरुष है अथवा नहीं ये संशय नहीं होता है संध्या दर्शनार्थ संदेह होगा देख लिया ठूंठे ये पुरुष है अथवा नहीं संदेह होता है ना प्रत्यक्ष निर्णय हो तो संदेह नहीं होता है किंतु आत्मा के विषय में संदेह होता है आत्मा के विषय में भय या नहीं देह इंद्र से अलग आत्मा है या नहीं संदेह होता है संदेह दर्शन द्यत्रित आत्मा अस्तित्व च संदेह दर्शनात् देहादि से अतिरिक्त आत्मा है या नहीं है इसमें संदेह होता है इसलिए क्या होगा प्रत्यक्ष से निर्णय नहीं होता है यदि प्रत्यक्ष निर्णय हो तो संदेह नहीं होना चाहिए जो लोग कहते आत्मा नहीं है अभी कभी विचार करते डरते हैं हां हो हो सकता है नहीं दिखता है तो नहीं कैसे जो लोग कह गए हम देखते हैं कहीं कुछ मर गया कुछ नहीं गया तो कुछ नहीं गया मतलब है नहीं फिर उसके सोचेंगे ऐसा तो नहीं कर सकते बहुत पदार्थ नहीं दिखता है नहीं दिखने पर कैसे नहीं कह देंगे इसलिए जो वैज्ञानिक लोग कभी ऐसा नहीं कहते नहीं दिखता है तो नहीं कैसे कहेंगे नहीं दिखने पर कुछ है अतः आत्मा अतिरिक्त आत्मा संदेह होता है संदेह होने का न उसका निर्णय प्रत्यक्ष से नहीं होता है न प्रत्यक्ष निर्णय परलोक संबंधी आत्मना च कस्य कस्य च लिंग से अभिनाभाव अदर्शनात् अच्छा अनुमान से निश्चय होगा परलोक संबंधी कोई आत्मा इसके मरने के बाद स्वर्ग में कहीं आत्मा है वह आत्मा का निश्चय होगा कोई उसके लिए हेतु हो लिंग हो पर्वत में बनने का निर्णय होता धूम को देख करके क्योंकि बार-बार देखते धूम बार-बार देखते तो वन्नी वहाँ है जहाँ-जहाँ धूम नीचे से ऊपर निकला है खाली थोड़ा ऊपर धूम नहीं कोई रेलगाड़ी जाते है धूम छोड़ दिया ऊपर कुछ जान चलते हैं जान वो भी कहीं धूम छोड़ दिया धूप लगाते ऊपर से घर धूम भर गया जहाँ धूम है वहाँ बने नहीं है हाँ धूम विलक्षण धूम जहाँ नीचे से ऊपर निरंतर निकला है तो अं, जरूर बननी होगी क्योंकि बनने कारण धूम कार्य कारण के बिना कार्य नहीं होता तो बनने का निश्चय हो जाता है इसी प्रकार परलोक संबंधी आत्मा है उस आत्मा के साथ किसका संबंध हो व्याप्ति निश्चय हो तो कोई अनुमान करेंगे ऐसा अनुमान करने के लिए कोई चाहिए व्याप्ति लिंग कुछ परलोक संबंधी आत्मा अस्तित्व कोई आत्मनाश कस्य चित लिंग से उसके साथ संबंध कोई लिंग व्याप्ति वाले है अविनाभाव अविना अवश्य होने वाला व्याप्ति साहचर्य नियत साहचर्य जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ बनिए जहाँ जहाँ बनिए वहाँ धूम निकलता है देखो इतने कितने फर्क हो गया धूम है तो बने निश्चय और बनी हो तो अवश्य धूम होगा नहीं ये तो ऐसे साहचर्य नियम हो अवश्य है नियम ज्ञान हो तो आत्मा अस्तित्व का निश्चय करेंगे ऐसा कोई लिंग अविनाभाव उसके साहचर्य हेतु हो जिसके साथ आत्मा अस्तित्व का निश्चय हो इसे दिखता नहीं परलोक ही देख किसने दिखा नहीं परलोक समझ भी संशय करते हैं स्वर्ग आदि है इसमें क्या प्रमाण कहते वैज्ञानिक ऊपर गए कहें तो स्वर्ग नहीं है ऊपर जो उड़ करके स्वर्ग हो तो दिखता वो सतैसा जैसे थूल पदार्थ यहाँ दिखता है ऐसे ऋषि के सरदार दिल्ली ऐसे ऊपर चले जाएंगे तो कहीं स्वर्ग दिख जाएगा ऐसा नहीं वो स्वर्ग किस प्रकार क्या है नहीं दिखता है तो नहीं नहीं कर सकते हैं तो व्याप्ति नहीं स्वर्ग परलोक के संबंध में भी संशय है परलोक संबंधी आत्मा के तो और दूर की बात है अनु न अनुमान नापि निर्णय अनुमान से भी निर्णय नहीं होता है इसलिए ये मेरा वर है इसको मैं जानना चाहता हूँ ये वराना मध्य तृतीय वर अभी यमराज तो आचार्य है आचार्य भी चाहते ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए ज्ञानी गुरु भी चाहते कोई से योग्य शिष्य प्राप्त आए ज्ञान प्राप्त करे तो परिश्रम सफल होता है सार्थक होता है किंतु जो अनधिकारी उसको उपदेश करे कुछ नहीं होगा इसे थोड़ी योग्यता हो जहाँ योग्यता नहीं तो योग्यता को प्राप्त कराने के लिए साधन ही बताते हैं तो कुछ प्रकार योग्यता हो तो ग्रहण करेगा और जो अत्यंत अयोग्य अशुद्धांत गण हाँ बोलते हैं हम तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे कहते हैं हमको झाड़ू लगाओ ये कोई बात है झाड़ू लगाने तो हम घर छोड़कर क्यों आए कोई कहते सेवा करना है तो हम गुरु गुरु को छोड़कर क्यों आए अपने गुरु की सेवा करें यहाँ क्यों आए यहाँ आए मतलब बस हमको ज्ञान दे सीधा कैसे दे देंगे बच्चे को भी औसत नहीं खिला पाएंगे मुख बंद करता है तो ग्रहण की योग्यता हो योग्यता के लिए कुछ कहेंगे वो भी नहीं करेगा तो श्रवण भी नहीं कर पाएगा छोड़कर भाग जाते हैं बोले क्या है ज्ञान कहाँ ऐसे होगा इतने लोग बैठे किसको ज्ञान हो गया ज्ञान किसको हो जाए तो पता चलेगा क्या कोई कहते इतने लोग सुनते इसका किसको ज्ञान हो गया जिसको ज्ञान हो जाएगा हाथ उठा करके हमको वा करके उठाएगा हा, हाथ उठा कर कहेगा तो तुम मान लोगे क्या कितने लोग आकर पूछते हैं आपको ज्ञान हो गया आपको ज्ञान हो गया कोई आकर पूछेगा कोई पूछा मैंने कहा यदि कोई कहे हमको ज्ञान हो गया तो मान लो क्या ऐसे बहुत लोग कहेंगे जिनका कुछ नहीं हुआ कहेंगे हाँ हमको ज्ञान हो गया मान लोगे वो तो पता नहीं क्यों फिर व्यर्थ पूछते हो ज्ञान हो गया होगा नहीं करेंगे अपने को कैसे ज्ञान होगा ज्ञान हो अधिकारी को ज्ञान होता है अधिकारी नो प्रमिति जनक वेद नहीं होता ये बात नहीं किंतु ऐसे साधन जिस मार्ग पर चलना चलने पर होगा लक्ष्य प्राप्ति गलत मार्ग में चले और नहीं चलेंगे तो प्राप्त कैसे होगा ये साधारण ये नहीं चले तो यहाँ से लक्ष्मण झूला कितने समय पहुँच जाए बोलो ना चलेगा ना गाड़ी में मैं पहुँच जाएंगे नहीं जाएंगे तो गंगा जी तो नहीं जा पाते नहीं उठे तो चलना पड़े कुछ करना पड़ेगा और जो नहीं पढ़े तो कितने दिन लहू को हो जाते बताओ कितने साल में <laughs> उन्हें आदि चौदह सूत्र भी नहीं आएगा नहीं पढ़ने पर आ जाएगा नहीं सुने तो करना पड़ता है रास्ता पर चलने से होता है किंतु उसमें योग्यता होनी चाहिए इसलिए यमराज सीधा उपदेश नहीं करते हैं कहते कि मयम एकांतत्व निश्रेयस साधना आत्मज्ञानारो न वेति एतत् परिचणार्थमा अयम ये जो नचिकेता है शिष्य रूप से उपस्थित है एकांत तो अत्यंत अवश्य ही नितांत निश्रेय साधन आत्मज्ञानारो निश्रेयस मोक्ष है निश्चितम श्रेय निश्रेयस उसका साधन क्या है क्या है आत्मज्ञान निश्चय का साधन आत्मज्ञान आत्मज्ञान के लिए अर अधिकार योग्य आत्मज्ञान के लिए योग्य है न वा या अथवा तो नहीं है योग्य है तो उपदेश करने से लाभ होता है अयोग्य हो तो उपदेश अयोग्य हो तो क्या करना योग्यता प्राप्ति के लिए उपदेश करना है अयोग्य के सीधा उपदेश करने से क्या होगा पहले योग्यता प्राप्त हो इत परीक्षणार्थम परीक्षणार्थम परीक्षा करने के लिए पहले कहते हैं तो यहाँ यमराज कहेंगे प्रलोभन देंगे परीक्षा करने के लिए फिर परीक्षण करके जो दृढ़ निश्चय हो जाएगा और कुछ नहीं चाहता है सब का प्रत्याख्यान कर देगा तभी खुश हो करके खुश होकर उपदेश करेंगे ओम सहना भवतु